रोग अवस्था में थोड़ी सी उबर जाना ये थोड़े थोड़े आंशिक परिवर्तन तो होते रहते प्रवृत्तियों जैसे संप्रदाय समाधि प्राप्त व्यक्ति की भी कभी संप्रदाय में स्थिति आ जाएगी और कभी रोगण की व्यवस्था हो तो संप्रदाय भी टूट जाएगी ऐसा जो ये तो थोड़ा थोड़ा आंशिक परिवर्तन होता है ना विचारों की धाराओं में ये तो चलते रहते आप अधिक कितने हैं जो अभी थोड़े काल से प्रवेश किया आपको थोड़ा काल हुआ और आपको तीन महीने आज तक आपका निर्माण कहां तक पहुंचा उसको अच्छी तरह पढ़ लो आपके जीवन को और उस जीवन के साथ ये बातें सारी मिला लो जहाँ पढ़ते और सुनते हो फिर पता चल जाएगा आप कहां खड़े और थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए फिर बोलो आप जितने काल तक लोक में परिवार में समाज में मित्रों के साथ रहे उनका जीवन और आपका जीवन किस स्तर का रहा था उसको सारे के सारे को दिमाग में रख लो अब तक अब आपको जब पढ़ाया जाता है दर्शनों के माध्यम से सिखाया जाता है उपदेश के माध्यम से तो उसको रख लो और जरूर की तुलना करो हम कहाँ खड़े थे कहाँ थे और हमको क्या करना है आप और नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होंगे आप आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं ऋषि महर्षियों ऋषियों जैसा वही बातें आप पढ़ते हैं अध्ययन करते कराते हैं और आपके जीवन का असर रहता है आज के लौकिक बालकों का विद्यार्थियों का युवकों जैसा तो आप सफल नहीं हो सकते तीसरा परिणाम ये निकलेंगे आगे चल के यदि ऐसा रहा तो की जो बात है वो नहीं आ पाएगी तो इसलिए मंथन किया जा रहा है बार बार बार बार तो आप कम से कम उस बात को समझ तो लें और समझने में भी ये भूल न रह जाए आपने आंशिक समझ के ये मान लिया हमने सब समझ लिया अब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं ऐसी भूल भयंकर न करना रहे खाया पिया उठे बैठे ऐसे ही सोचते रहे ऐसे ही सोते उठते रहे ऐसे ही खाते पीते रहे ऐसे लेन देन करते रहे और आप ये बात सोचते रहे कि हम वो वही बात बहली आएगा गाल बिछाएगा तल्लुल बेचेगा छुपके बैठेगा फसना नहीं बस आपकी स्थिति ऐसी बनी गई बात वही कहते रहो और जीवन आपका है लौकिक सांसारिक आदर्श जीवन बनाने वाले व्यक्तियों की विचारधाराएं कैसे कैसे रहती हैं कैसे होती हैं उसको अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए यदि आप उनकी विचारधाराओं को नहीं समझते और लौकिक विचारधाराओं को समझते नहीं तुलना नहीं करते तो आप नहीं जम सकते नहीं चल सकते क्योंकि आपकी तुलनात्मक देन नहीं आपका व्यक्ति इस स्थिति में इस धारा में चलता है तो उसका यह स्तर रहेगा जीवन का इस धारा में चलता है ऐसा व्यवहार करता है तो ये जीवन रहेगा उसका ये महाप्रसंग आपका सतत चलता रहता है दिन भर और उससे बचते रहते हैं अवसरवाद से बचते रहते हैं आदर्शवाद की ओर बढ़ते जाते हैं प्रतिदिन के सुने हुए पाठ को जीवन में लाता जाता है और उसके विरोधी विचारधाराएं पूर्व जन्म के हों से इस जन्म के हों उसको दूर करता जाता है वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों को देखता मन में उठने वाले विचार उठाए जाने वाले विचारों का पूरा अध्ययन करता कब कब जन्म में क्या सोचता हूं क्या मान्यताओं मंतव्यों सिद्धांतों उल्टा तो नहीं सोचता कि सोचता हूं तो ये क्यों फिर नहीं सोचना पूरा निर्णय हुआ नहीं सोचना विपरीत परंतु आगे देखेंगे आप इतनी मान्यता बनने पर भी सिद्धांतों को पढ़ने पढ़ाने जानने पर भी उसके मन में जन्म जन्मांतर की जन्म की वासनाओं के कारण एक तमोगुण के कारण दो असावधानी के कारण तीन इन कारणों से उल्टी विचारधाराएं उभरती रहती है या उभारता रहता है उन विचारधाराओं को न उभरने देना उनको रोकते रहना और इतने मात्र से वो रुक जाएंगी थोड़े से परिश्रम से ऐसी आशा मत लगाना थोड़े से काल में रुक जाएंगी वो वासना इसलिए दर्शनकार ने क्या कहा आशाम अनादित्व से आशीषो नित्यता ये पाठ क्यों पढ़ा गया हमारी विशाल जी आया समझ तो में या कहीं और कहीं चिंता आप पास में बैठे हो दूर वाले को तो मैं पूछ भी लेता हूँ वो दीपक के नीचे ले रही वाली बात है पास वाले को पता ही नहीं था बैठा भी या नहीं बैठा है हैं क्यों संदीप जी कुछ आया समझ में ये अनाजित अनादितम ये दर्शनकार कह रहा है कि तो है प्रवाह रूप से आदि सब चीजें लेके चले आज तक उसके पीछे दूसरी योनि में वही भोग उसमें तीसरी योनि में वही भोग वही भोग और वही कर्म वही वो चलता आ रहा चक्कर अनादित्व प्रवाह से अनादित्व चलता आ रहे हम भोगते आ रहे हैं आदि सृष्टि में हमें मुक्ति से नहीं आए तो आदि सृष्टि के चक्कर में इस चक्कर में भी आप निकल पाएंगे या नहीं इससे इसको सोचो या खुजली वाले चक्कर से निकल के फिर उसी कुत्ते वाले चक्कर में जाओगे सुना दृष्टांत या नहीं सुना है एक दृष्टांत दिया जाता है एक व्यक्ति थे उसको खुजली हो गई और खुजली होने के उपरांत एक बहुत लंबे चौड़े चार दिवाली के भवन में वो बेचारा प्रविष्ट हो गया अरवंधा था था अब दरवाजा एक था ऐसी कल्पना की एक दरवाजा था तो किसी से पूछा कि भाई मैंने मुझे दरवाजा बता दो मैं कैसे निकलूं उन्होंने कहा देखो ये दीवार के हाथ लगाते लगाते चले जाओ लगाते लगाते जहां दरवाजा आएगा वहां निकल जाना और खुजली का स्वभाव है कि ऐसी भयंकर उठती है एक व्यक्ति थे और वो खुजली जब उठती तो भयंकर खुजली करती आ, कर लेते थे और वो खुजली करने वाले को खुजली में बहुत आनंद आता है <laughs> या नहीं पता आपको नहीं पता है वो वृद्ध व्यक्ति खूब खुजली करते और फिर उसको जो अत्यंत जलन होती इस खुजली से किसी ने पूछा हमने सुना क्या बात बात क्या है मैं उसका भाव सुना रहा हूं उनका कि खुजली उठती है खाज में बड़ा आनंद आता है मैं फिर बड़ा भारी कष्ट होता है फिर खुजली कर लेता हूँ और फिर कष्ट होता है उन्होंने अपनी दिनचर्या बताई रोज यही है कि खुजली होती है तो बड़ा आनंद आता है और फिर उसमें जो अति जलन होती है की हुई खुजली में बड़ा मैं आगे नहीं करूंगा और फिर उल जाता है वही व्यक्ति <laughs> तो उसमें एक खुजली उठी तो दरवाजा आया तो खुजली उठ खड़ी हुई वो खुजली में लगा रहा लगा रहा दरवाजा निकल गया निकल गया तो फिर चल पड़ा हुआ दीवार के हाथ लगाता लगाता आते आते फिर दरवाजा आया चक्कर काटते करते फिर खुजली उठी फिर वो आनंद लेने का खुजली का फिर दरवाजा निकल गया ये मनुष्य रूपी दरवाजा आपका खुजली में चला जाएगा ये देख लो क्या जी है नहीं जगती ये बात तो ये इतना लंबा चक्कर है और इस व्यक्ति के दिमाग में बुद्धि में कई बार ऐसी धाराएं उभरती हैं वो ऐसा मान लेता है ये तो भाई वो अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे <laughs> बीस वर्ष हो गए तीस वर्ष हो गए साथ ये कहेंगे मुझे तो सत्तर हो गया होने वाले होंगे अब पीछा ही नहीं छोड़ रही है अब ये सोचने लगे ये पीछा छोड़ती नहीं ये कहने की बात है पीछा छोड़ देती है कैसा लगी ऐसे विचारधारा उभरती है या नहीं उभरती उभरती तो मरती है तो उनका संदेह होता है उसको पता नहीं है कभी मर जाती है या नहीं मर जाती वो ये सोचने लग जाता है ये सोचता है आज हाँ तुलनात्मक देखेगा तो उसे ये तो पता ही चलेगा कि बीस साल पहले जितने तीव्रता से होता था उतना काम अभी नहीं होता तो उसको विश्वास भी तो होना चाहिए इतना तो होगा और जो इतने का भी नहीं सोचता उसको इतना भी नहीं होगा जो इतना विचार करेगा पहले बहुत उग्रता थी तीव्रता थी बहुत मंद हो गई फिर वो ये मान सकता है मंद तो हो गई और ये बिल्कुल मिटती है या नहीं दिखता या संदेह होगा उसको तो संशय छोड़ेगा पीछा नहीं ऐसा नहीं पीछा छोड़ता संदेह और उनके दिमाग में बैठ जाए कम तो हो जाती है ये तो ठीक बात है कई लोग आपने सुने होंगे कि भाई देखो बाहर से व्यक्ति चोरी न करे बाहर से इंद्रियों को जीत ले पर मन से तो कोई जीत नहीं सकता मन में तो रहेगी ही राधना ऐसी सोचते हैं नहीं सोचते सोचते भी प्रचार भी करते हैं हाँ ऐसे प्रचार करते हैं बात आती है या तो वो अनुभव करता है समाधि आदि अवस्थाओं में कि भाई वास्तव में ये वासना काम करो कि हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है वास्तव में वो दूर होकर देख लेता है या तो यह स्थिति या फिर इसी की बात को जो तो मानता है वो कहते हैं स्वाभाविक नहीं है ये अविद्या स्वाभाविक गुण हमारा नहीं है अधर्म अन्याय स्वाभाविक गुण हमारा नहीं है वासना स्वाभाविक गुण हमारा नहीं है काम क्रोध तो लोभ मोह स्वाभाविक गुण हमारा नहीं है ये ऋषि की बात मान ली उसने और आगे चलता जाएगा और वो जीत लेगा रूप होगी इसकी यहाँ पर वेद वेदानुकूल जिक्र ग्रंथों का पूरा आधार मान के चलता है वो इन्होंने जो लिखा है वो शत प्रतिशत ठीक है वही मानता हूँ अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है वो व्यक्ति अपने मन में तो नीचे स्तर की बातें आएंगी उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं है वो नीची सोचेगा उल्टी बातों को छोटी मानेगा अविद्या को विद्या भी मानेगा अधर्म को धर्म भी अपना स्तर तो ये है व्यक्ति का और इधर वेद और वेदानुकूलित ग्रंथ कहते नहीं ये अविद्या है ये विद्या नहीं है देखो ध्यान लो आप ध्यान में बैठे या तो आपको ईश्वर का अनुभव हो रहा है और आप कहते हैं वास्तव में ये जो अविद्या है अधर्म है काम क्रोध की वासनाएं हैं ये वास्तव में हमारा गुण नहीं है हम स्वभाव से पवित्र हैं प्रकृति के संबंध से इंद्रियों के संबंध से मन के संबंध से अज्ञान वासना है अंदर हमारे प्रलय पड़ गया ये उसको स्पष्ट हुआ एक स्थिति और दूसरे स्तर पर वो देखता है कि अनुभूति इतनी नहीं होती तो सिद्धांत रूप में तो देखता है ये नैमित्तिक है अविद्या अधर्म अन्याय काम करो नैमित्तिक और परंतु ज्ञान उसका ये काम करता है नैमित्तिक नहीं दिख रहे स्वाभाविक दिख रहे समझ में आया नहीं आया हम्म? तो उस स्थिति में फिर सिद्धांत से काम लेता है वो कि मेरा स्तर है मुझे ये अपने गुण दिखाई दे रहे हैं मेरी मान्यता मेरा मेरी बुद्धि ठीक नहीं है मेरा स्तर नीचा है इसको पता चल गया ऋषियों का या ईश्वर का जो स्तर है वो मेरा नहीं है नहीं होने से मुझे ऐसा दिख रहा वास्तव में है नहीं ऐसा ऐसा सोचता है तो फिर उखाड़ेगा उनको उनको हटाएगा वो और यदि अपनी मान्यता जो आई अनुभूति बनी वो मानेगा तो फिर ईश्वर की बात ऋषियों की नहीं मान के अपनी बात मान के चलेगा वो समझ में नहीं आया हो तो पूछो कभी कभी आप अपने मनस्थिति को ऐसी बना पाते हैं यानी अब मैं किसी विषय में नहीं विचार करूंगा अपना अपना अनुभव बताइए फिर से सुन लीजिए आपने बहुत बार सुनी है ना भिन्न भिन्न स्थिति यह पूछा जा रहा है कि अब मैं किसी विषय में भी नहीं विचारूंगा समस्त विचारों को बंद कर दिया उसने आप ऐसी स्थिति बना पाते हैं यानी बोलिया इतनी स्वतंत्रता इतना अधिकार अब किसी विषय में नहीं विचार न अच्छा ने बुरा न ईश्वर के न आत्मा के न प्रकृति नहीं विचार बोलो आप अपना अनुभव बताओ साधक जी आप बोलो पर ये याद रखना जिस स्थिति को लेके बोल रहे हैं उसको पकड़ लेना चाहिए नहीं तो आप उल्टा उत्तर भी दे सकते है ना कि किसी विचारों को जो कि अनावश्यक है या आवश्यक नहीं है संबंधी उसको कुछ काल के लिए रोक दिया गया है अगर अब वो और स्पष्ट करता हूं एक व्यक्ति ने अधिकार पूर्वक संपर्क समाधि लगा दी परमाणु परम परमाणु परम महत्वात्म अंतो अश्य विशिकार है एक स्थिति उसने एक आत्मा का स्वरूप जानना चाहा और आधा घंटा जितनी देर तक आत्मा के स्वरूप में उसने अपने आप को स्थिर रखा एक विषय है उसका अथवा ईश्वर के स्वरूप में रखा अथवा मन के विषय में कोई भी अधिकार पूर्वक एक विषय बनाया और इतनी इच्छा थी अधिकार पूर्वक एक विषय में रखा कोई विषय नहीं आ सकता एक स्थिति अब वही व्यक्ति उस संप्रदाय समाधि के स्तर को हटा के रोक के अब कहता है मैं आत्मा के विषय में या ईश्वर के विषय में समाधि की स्थिति में था अब मैं किसी भी विषय को अपना ज्ञान का विषय नहीं बनाऊंगा सारे विषय से बंद कर देना नहीं आया तो तुमने पूछा इसमें कुछ लाभ हमें लगता नहीं है कि ईश्वर भी मन कर ऐसे सामान्य कर यही तो बात समझाने की है समस्या तो यही है व्यक्ति के सामने देखिए श्रद्धा भंग हो जाती है ये तीसरी स्थिति है जो समाधि को छूती है अगली बात समझ ईश्वरी व्यक्ति का अधिकार नहीं है अधिकार करता है तो छूट जाता और चौथी स्थिति में अधिकार है जितनी जितने समय तक समाधि में रहना चाहे रहता है उसको विक्षिप्त विक्षिप्त चित्त को करने वाले साधन नहीं उखाड़ सकते एक ये स्थिति अब अब इस स्थिति में आते हैं हम उस एक विषय में जो मन को लगाना सतत बताते रहना एक भिन्न स्थिति है अब वो कहता है मैं न ईश्वर के विषय में समाधि लगाऊंगा न अपने विषय में न मन के विषय में न इंद्रियों के विषय में बिना ही विषय बनाए रहूंगा अब नहीं में आया तो, तो कुछ प्रयास नहीं किया इसके लाभ नजर नहीं आते लाभ की बात छोड़ो पहले विषय को पकड़ो एक को पकड़ो नहीं तो लेना एक नहीं देने दो ये हो जाएगा अब लाभ की बात सोचने की आपकी बुद्धि तो लाभ की ओर चलेगी वो विषय पकड़ा ही नहीं गया जो बताया जा रहा था क्या समझे आप तो ठीक की बात नहीं है पहले स्थिति को समझना है आपने दूसरा प्रश्न के तो पीछे उठाना चाहिए पहले वो स्थिति भी समझ में आ रही है यानी वो कोई कोई कुछ समझता है कोई कुछ समझता है समझाने वाला क्या समझा रहा है इसका कोई पता नहीं हाँ जी बोलो समझ आ गई हाँ नहीं आई हो तो पूछो पहले तो बात ये जानी कि समझ में आई या नहीं आई मुश्किल तो यही है सबसे पहले कोई कहेगा सुनीता बना दी कोई और कुछ कहेगा कोई और कुछ पता नहीं क्या क्या कहेंगे आप समझ में आएगा मैं बैठा हूँ सीधी बात अब मैं निश्चित करता हूँ किसी विषय पर नहीं विचारूंगा सीधी सी बात नहीं विचारना मैं स्वतंत्र हूँ विचारने विचारू न विचारू दूसरा मूर्छावस्था में गाढ़ निद्रा में अनधिकृत होने से रहता है नहीं तो कुछ भी नहीं विचारता इस बात को समझे नहीं यहाँ अधिकृत है वहाँ अनधिकृत है व्यवस्था है जैसे दोनों अवस्थाओं को उदाहरण दे दो आप गुरुड़ फांस सुखाओ या मूर्छित कर दो वो हो के साधन अवस्था में वो कोई विचार नहीं कर सकता ये आप समझ लीजिए पहले निद्राकार निद्रा में भी अनुभूति तो होती है पर अधिकार पूर्व कोई विचार नहीं कर सकता या नहीं समझे आप अब इसको देखिए बुद्धि पूर्वक ज्ञान पूर्वक अधिकार पूर्वक किसी को विषय नहीं बनाता नहीं विचार ना कार चलाने वाला चलाए नहीं चलाए नहीं चलाता यहीं खड़ी कर दो शरीर से आप जाने आने वाले कथी शरीर का ले लो आप कहते मैं नहीं जाना चाहता नहीं अहमदाबाद जाना चाहता नहीं मैं दूसरा जाना चाहता यहाँ खड़ा आऊंगा बताओ क्या करोगे <laughs> शरीर की दृष्टि से गति हमारा अधीन गति है कि हम अहमदाबाद जाए दर्जरा जाए दरसरे को जाने वरे नहीं जाते हाँ से मैं देखू नहीं देखू उल्टा देखू मन कर दू इसमें क्या बात नहीं देखूंगा अब माई मन की बात मन से बेचारू नहीं बेचारू कुछ भी नहीं बेचारू मेरा काम है नहीं बेचारूंगा सिद्धांत को दिमाग में रखिए जीवात्मा सोचना चाहे तो सोचेगा नहीं सोचना चाहे तो नहीं सोचेगा आप इस पर ध्यान दो अब साधक जी बोलो समझ में आया नहीं आ इसमें एक कठिनाई एक अधिक मुझे आया था स्वामी जी फिर बोलो जो प्रमाण व्यक्तियाँ बनती हैं वो साधक होती है मैं बताता हूँ इसके दो भाग है कहीं प्रमाण वृत्ति नहीं बनेगी कमरे में बैठ जाइए वहाँ तो प्रमाण वृत्ति से रहित हो जाएंगे आप लगभग छोटी मोटी रहेंगी बाहर से तो कान में आवाज आती है खटपट वो से आप बिल्कुल वहाँ नहीं होगी प्रमाण वृत्ति वहाँ नहीं होगी नहीं समझे आप त्वचा आदि के प्रमाण वृत्ति होना है बहुत सूक्ष्म बात है त्वचा में दर्द होने लग जाए आदि आदि या गंध आने लग जाए कोई फिर गंध से भी नहीं आएगी कहीं गंध बिना गंध के भी कमरा मिल जाएगा आपको सबसे ज्यादा मैं परेशान की बात नहीं सुन रहे आप आपने जो बात उठाई थी उसका उत्तर सुनो हाँ वो एक ऐसी स्थितियां जहां हमको गंध नहीं आएगी कान में आवाज भी नहीं आएगी स्थिति मिलेंगी हमको रूप भी नहीं होंगे ये मिलेंगी यहाँ जाइए आप वहां तो कर सकते हैं वहां को उस स्तर को पकड़िए पहले वहां तो ये प्रयोग कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते अब रहता है कि साक्षात शब्द सुनाई देता है साक्षात शब्द सुनाई देने में दो स्थिति है एक ऐसा तीव्र शब्द है वो हम नहीं रोक सकते धूप जैसा गोला चले हमारे खान हम उसको फटका फट जाएगा हम नहीं रोक सकेंगे एक ऐसे शब्द होते हैं वो हमको इतना मन का नियंत्रण है साधारण शब्द होते हैं वो हमको दबाव नहीं डालेंगे हमारे ऊपर एक बीस के शब्द होते हैं दबाव डालेंगे वो और दबाव डालने वाले को हम रोक देंगे बताओ समझ में आया नहीं आया है तो हमें ये आत्माएं इतना शक्ति सामर्थ्य रखते हैं इतना ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं इतना ऋषियों के ग्रंथों से कर सकते हैं इतना गुरुओं से मित्रों से कर सकते हैं हम इस स्थिति को ऐसी बना सकते हैं कि हम किसी विषय में नहीं बिचारें नहीं विचारना मैं कहता हूं मैं नहीं विचारूंगा मैंने रोक दिया सारे विचारों को क्या आपत्ति है क्या बात है नहीं विचारना स्वयं को रोक लिया इस भाषा को बोल लो नहीं समझे आप स्वयं को रोक दिया अंत अंतकरण को रोक दिया ये कह दो कौन विचारेगा आ गया समझ में अब विराम बुजुर्गगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं प्रत्येक व्यक्ति सतत अपने व्यवहार को देखता है निरीक्षण परीक्षण करता है समय से अनुचित व्यवहार को छोड़ता जाता है उचित व्यवहार को लेता जाता है ये मानव निर्माण का एक विभाग है इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन वाणी शरीर के व्यवहार को निरीक्षण परीक्षण के रूप में नहीं देखता नहीं समझता और उसमें परीक्षण करके अच्छे व्यवहार का ग्रहण और बुरे व्यवहार का परित्याग नहीं करता वो व्यक्ति कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बनता दूसरा विभाग विद्या के क्षेत्र में जो व्यक्ति विद्या पठन पाठन में पूर्ण परिश्रम पुरुषार्थ विधि से पढ़ता है और उस विद्या को आगमन काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और व्यवहार काल तक पहुंचाने के लिए पूरा बल शक्ति लगाता है वो व्यक्ति महान बन जाता है इसके विपरीत जो व्यक्ति विद्या का पठन पाठन नहीं करता और करता है तो व्यवहार में नहीं लाता तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति अच्छे जीवन की नहीं बनेगी अर्थात वो अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा ये दूसरा विभाग है तीसरे विभाग में जो व्यक्ति उपासना के स्वरूप को जान के विशुद्ध उपासना क्या है अशुद्ध उपासना क्या है उसकी करने की रीति क्या है विशुद्ध रीति से विपरीत उपासना का क्या स्वरूप बन जाता है ऐसे जान के समझ के जो व्यक्ति चलता है वो महान बन जाता है और इसके विपरीत व्यक्ति महान नहीं बनता पढ़े की बात सुनिए एक विभाग में प्रातः काल आप वेद मंत्र पढ़ते उसकी व्याख्या सुनते हैं ऋषि की की हुई और उसको व्यवहार तक नहीं ले जाते ये भाग एक है तो आप अच्छे व्यक्ति कभी नहीं बन पाएंगे कितने दिन तक पढ़ते रहिए आप यद्यपि संस्कार पढ़ता है यद्यपि कुछ बातें आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी आंशिक रूप आंशिक रूप में आप अच्छे व्यक्ति बने रहेंगे विशेष रूप में अच्छे व्यक्ति आप नहीं बन सकते विद्या के क्षेत्र में भाषा की दृष्टि आपको ये बतलाया गया कि देखो भाषा विज्ञान एक उन्नति का विशेष साधन है मनुष्य की यदि भाषा विज्ञान अच्छा न हो तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाएगा वैदिक परंपरा में ऋषियों की परंपरा में भाषा विज्ञान वर्णोच्चारण शिक्षा आगे बढ़ते जाइए अष्टाध्यायी और व्याकरण के ग्रंथ और अंत में जाकर के महाभाष्य और उसके पीछे नियुक्त ये भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान का एक भाग मैंने आपको सुनाया देखो आप यद्यपि महाभाष्य भी पढ़ें निरुक्त भी पढ़ें अच्छी बात कभी कभी व्यक्ति इतना नहीं पढ़ पाता वो मध्यस्थ ग्रंथ जैसे काशी का है बड़ा ग्रंथ है गंभीर है वहां तक पढ़ पाता है फिर उतना भी एक व्यक्ति नहीं पढ़ पाता उसकी रुचि नहीं आदि तो वो अष्टाध्यायी को पढ़ता है प्रथमा वृत्ति को सिद्धि से पढ़ता है आगे बढ़ जाइए एक व्यक्ति इतना भी नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ना चाहता या वो पुरुषार्थ नहीं करता इत्यादि तो उसके लिए मैंने आपको बतलाया था कम से कम दस बकारों के रूप वो लिखने आने चाहिए ये पढ़ने आने चाहिए उनका प्रयोग वार्तालाप में करना चाहिए और फिर शब्द रूपावली अजन एक भाग है ए आ ए ए जिसके अंत में हो ई अंत वाला उ अंत वाला ए अंत वाला इनका रूप कैसे चलेगा फिर वो देखता है ई अंत वाला है ई इसमें अंत तो इजंत ई अंत वाला अजंत ए अंत में अच अंत में होता अजंत तो वो देखता है मुनि शब्द क्या अंत वाला है अंत वाला क्या जी अंत वाला और बुद्धि शब्द बोल क्या समझा है इकारांत है ई है जिसके अंत में इकार और ई ये दो नाम है यानी ई के कौन कौन से न्यास में क्या समझ माया आपको क्या समझ माया हाँ जी के दो नाम है ई और इकार हाँ दो नाम क्या पड़ गए इके और जब संधि करते ई कार अंत है क्या बनेगा ई कार है तो ई का एक नाम तो ई हो गया और एक नाम ई कार हो गया कार पत्ते लगा दो ई कार हो गया और जिसका नाम से और क्या बनाओगे चकारांत या नहीं समझे नहीं आ समझ से और चकार क्या बनाओगे चकार चकार कहते हो आप और से कहते हो एक ही बात तो हुई तो ऐसे देखता है वो अब कोई ध्यान दे कि मुनि शब्द के रूप चलाओ तो एक ये भी इकारांत तो है अच्छा आप मती शब्द के रूप चलाओ ये भी तो विकारांत है क्या जी तो किसको पूछना है आप बताएंगे जो मुनि शब्द है वो भी विकारांत है और मती शब्द है वो भी छोटा विकारांत है रूप बराबर होंगे अलग अलग होंगे हाँ जी कैसे क्या भेद आ जाएगा कहां पर भेद आएगा जैसे बहुवचन हाँ जैसे मुनि के रूप चलाओगे आप तो कैसे चलेगा बहुवचन में मुनीन होगा हाँ बुद्धि का बुद्धि बुद्धि का बुद्धि होगा क्या समझ में आया आपको द्वितीय बहुवचन में दोनों में भिन्नता क्या भिन्नता आएगी में बुद्धि एक में मुनीन मुनी होगा मुनीन मुनीन बनेगा ठीक है आया समझ में तो अलंतों के रूप चले है हाँ क्यों मान लो एक तय इसके अंत में है उसके रूप चलाओगे आप तो कैसे चलाओगे जगत हाँ जगत हाँ हाँ जगत जगती जगती हाँ जगता जगद्याम जगद्भि हाँ जगते जगद्याम जगद्य हाँ जी अपने दर्शनकारी समय प्रसाद बताएंगे ठीक चला रहे हैं कुछ ऐसी हो गई जगत शब्द को चला रहे हैं ठीक है आया समझ में नहीं आया तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो चय नहीं हल जिनके अंत में हो वो रूप कैसे चलते हैं तो हलंत वाले जो वाक्य बनाएंगे शब्द बनाएंगे तो आप उसमें ठीक लिखेंगे ठीक बोलेंगे ठीक समझेंगे भी ठीक शब्द रूपावली धातु रूपावली इनका वो ध्यान देता है वो पढ़ता है लिखता है फिर अनुवाद करता है तो उसको ये भाषा आ जाती है पढ़नी लिखनी समझनी आ जाती है पढ़ाई अब जो प्रयत्न नहीं करता उसको ये भाषा नहीं आएगी वो आज से आगे वो सत्तर वर्ष का भी हो जाएगा उसको वो भाषा का पता ही नहीं चलेगा उन्हें बोलनी आएगी न लिखनी आएगी न पढ़नी आएगी और उस और वो दर्शनाचार्य भी हो गया मान लो तो लोग क्या कहेंगे तो ये पढ़ने पढ़ाने के गुण और दोष दोनों को जानना चाहिए शंका है क्या इससे साक्षात्कार में ये व्याकरण आदि का सीधा सीधा कोई संबंध है क्या ये व्याकरण भाषा विज्ञान को बताता है और भाषा विज्ञान के माध्यम से आत्मा परमात्मा दर्शनों और उपनिषदों में लिखा गया है यदि भाषा विज्ञान न हो तो दर्शन और उपनिषद है और वेद समझ में नहीं आएंगे जब वेद समझ में नहीं आएंगे तो ईश्वर साक्षात्कार होगा ही नहीं गुरुमुख से पढ़ लेंगे गुरुमुख से भी भाषा नहीं आएगी तो गुरुमुख की भाषा ही नहीं आएगी आपको गुरुमुख पढ़ाएगा आएगा वाच्यान वाच्य संस्कृत का वो कैसे पढ़ोगे आप नहीं आज समझ में गुरुमुख से पढ़ जो भाषा तो वही होगी दर्शनों की उपनिषदों की वेद के मंत्र ही होंगे या और कुछ होगा समझा ना जिसकी भाषा ही नहीं आती तो समझाएंगे कैसे एक जंगली को पकड़ के लिया और गुरु को पकड़ा दो गुरु के सामने बैठा दो समझेगा वेद के मंत्र को समझा किन को गुरु जी हिंदी भाषा में हमको अच्छा हिंदी भी वो कहेगा हिंदी भी नहीं पढ़ूंगा मैं तो हिंदी का भी व्याकरण चाहिए आपके पास में ये पहली बात और हिंदी भी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी तो संस्कृत नहीं आएगी जब तक हिंदी नहीं आएगी अच्छा हिंदी समझ समझ के आप रट्टा लगाएंगे बहुत लंबे काल तक और संस्कृत में झट सीधी पंक्ति से अर्थ समझेंगे उसमें काल लगाओगे बेकार है हिंदी में लगाओगे और हिंदी में एक व्यक्ति ने ये अर्थ कर दिया दूसरे ने ये किया तो क्या वो कैसे सुलझाओगे उसको हेन्द्र उसने बोल दिया तो आप कैसे सुलझाओगे मैं तो ब्रह्मास्मी का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं अब बताओ क्या करोगे आप साधारण लोगों में बात कर सकते हो ऐसी साधारण लोगों को जो नहीं पढ़ सकते बेचारे हैं तो हिंदी आती है वो हिंदी में करें प्रचार हम इसे मना नहीं कर रहे पर ये विद्या पढ़ने का क्षेत्र नहीं है विद्वान बनने का क्षेत्र नहीं है आलसी प्रमादियों का क्षेत्र है ये कि भाई हिंदी से काम चलाने के निहार समझ में और बताऊ और पूछ रहे निहार तो थोड़ा पढ़ लेंगे संस्कृत आप ये थोड़ा सा खाते से मैं आप चौथाई रोटी खाया करो कहीं थोड़ा खाऊंगा <laughs> खाया करो फिर क्या परिणाम निकलेगा शरीर सूख जाएगा पहले बूढ़ा बुढ़ापा आ जाएगा फिर रोगी हो जाओगे फिर ऐसे गर्दन हिलने लगे क्या पढ़ाओगे और होगा कोई धक्का दे देगा तो हाथ पैर टूट जाएगा ये थोड़ा खा लेंगे थोड़ा कमाओ थोड़ा खा लेंगे <laughs> मूर्खता की बात <laughs> वो जो वो जो शिष्य था ना खाकी जी का ये उसकी बात है व्यवहार वाणी मारा होगा ना खाकी जी का शिष्य खाकी जी की बात नहीं करना फिर आपको पता है इतिहास पढ़ा है पचपन वर्ष की अवस्था में दूसरी भाषा पढ़ी होगी क्षेम कर्ण दास जी ने और संस्कृत भाषा पढ़ कर अथर्वेद का भाषा किया है क्या कल्पना करते हो आया समझ में नहीं आया फिर क्या बात करते हो आप और समझाओ आ गया समझ में ईश्वर साक्षात्कार तक कैसे पहुंचने में सुविधा है सुविधा और क्यों उसकी आवश्यकता है और सुन लो आगे बढ़ रही है आप विदेशियों ने व्याकरण को नहीं समझा भाषा नहीं आई गलत भाष्य कर दिया आप बताओ क्या करोगे उसका अनुकरण भारतीयों ने किया वो गलत पढ़ाया जाता विश्वविद्यालय में ये अनर्थ होगा मैं आज समझ में और हूं है इन्होंने फिर भाषा तो आ गई जिस किसी को और मूल सिद्धांत ऋषियों का नहीं आया समझ में तो भी भाष्य गलत कर दिया महीधर साइनाचार्य इनको भाषा तो आई थी पर भाषा आने पर भी यदि विशुद्ध सिद्धांत नहीं आए वो भी गलत ही व्याख्या करेगा वहाँ पदार्थ विज्ञान है वस्तु विज्ञान की बात है भाषा के पीछे उन्होंने गलत भाषा किया और विदेशियों ने उनका अनुकरण करके उन्होंने भी गलत कर दिया उन्होंने दो भूलें की इन्होंने भाषा नहीं सीखी विदेशियों ने और गलत व्यक्ति के भाषा का अनुकरण किया दो भूलों से भाषा उल्टा हो गया भाषा नहीं आना एक और गलत भाषा का अनुकरण करना दो इनसे वो विदेश विदेशियों ने उल्टा भाषा कर दिया वही पढ़ते हैं वही वेद का विज्ञान हो गया आया समझ में भाषा विज्ञान क्या करता है, है? अच्छा अब एक दूसरा प्रयोग होगा समाज समाजस्य द्वितीय नियम कथम अस्ति ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हाँ। हाँ। बोलो हाँ। आप क्या भूल कर रहे हैं आप नहीं हम है हमें ऐसा मान कहते थे हिंदी में बोल रहे हैं ऐसा इसमें क्या भूल हो रही है संस्कृत को बता दो क्या भूल हो रही है अंतिम अक्षर को हलंत बोल रहे हो आप हलंत है नहीं वो बोल के देख लो आप नहीं समझ में आते बोल के देख लो नहीं बोलोगे क्या निराकार को बोलो नहीं आप जो <laughs> आप जो सदा बोलते हो या बोलो निराकार नहीं ऐसा बोलते तो अलग अलग तो उसको बोलते चले जा रहे उसको अशुद्ध तो नहीं मान रहे ये तो भाई वो खाकी जी के चेले की बात है कि हमारे गुरु ने तीन या कितने प्रकार का नमस्ते बताया संग क्या क्या है गणेश आए नमस्ते <laughs> और क्या क्या है हाँ हाँ ऐसे बताया इतने प्रकार का नमस्कार बताया हमारे गुरु जी तुम वो क्या क्या शब्दावली है वहाँ गुरु का चेला फलाना <laughs> ये कह के हमारे गुरु जी ने इतने प्रकार का नमस्कार सुनाया है <laughs> शरीर राजन में नहीं <laughs> हाँ रणवीर महाभाग है अधुना संस्कृत उत्तरम हम अवगतम ईश्वर न्यायकारी अस्थि ईश्वर न्यायकारी अस्थि ईश्वर न्यायकारी अस्थिति पंच अवय न इदम साधनीम कथम न्यायं करोति ईश्वर न्यायकारी अस्ति सर्वज्ञत्वात् ये ये असर्वज्ञाः भवन्ति ये ये सर्वज्ञाः भवन्ति ते पूर्णरूपेण न्यायकारी भवन्ति ते के यथा

हाँ यथा अत्र न्याय दृश्यते लोके लोके न्याय न्याय कथं दृश्यते लोके यथा योगिनः भवन्ति हम्म। तेषु ज्ञानस्य अधिकत्वात् ये न्यायकारिणा भवन्ति हम्म। किन्तु येषु ज्ञानस्य न्यूनता वर्तते अथवा ज्ञानस्य अथवा विकृतं ज्ञानं भवति येषु ते अस्तु साधकमहोदय भवान् विपक्षति न संस्कृतभाषया ईश्वर दयालु वर्तते दयालु दयालुः कथमस्ति ईश्वरः दयालु अस्ति दयालु शब्दस्य को अर्थः पूर्वं यः न्याय न्यायं करोति हाँ। दयालु किमुक्तं हाँ, न्याय करोति न्याय करोति कथं भविष्यति का विस्मृतिः ध्रुवदेवजी न्याय करोति शब्दे ከሳደቅ ማውደቅ ቂም አወጣው ቂም नहीं नपुंसकम इति वा विभक्ति दोष है क्या दोष है विभक्ति दोष है कथमा विभक्ति प्रयोक्तव्या केन हेतु ना आगतम साधक तो न्याय करोति अग्रे यह ये व्यायाम न करोति ते ध्यान